परम पिता परमात्मा का स्मरण मंगलमय कल्याणप्रद परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ धर्म प्रेमी सज्जनों धार्मिक व्यक्ति को परमात्मा के प्रति क्या भाव रखना चाहिए परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना कैसी करनी चाहिए इसका दिशा निर्देश देने के लिए महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय में चुने हुए मंत्रों का संग्रह किया है उन सब मंत्रों में परमात्मा की स्तुतियां हैं और परमात्मा से प्रार्थनाएं हैं परमात्मा की स्तुति करते हुए हम परमात्मा के स्वरूप को अंदर से स्वीकार करते हैं परमात्मा ऐसा ऐसा है परमात्मा हमारे लिए ये ये करता है परमात्मा का स्वभाव ऐसा है उन सब मंत्रों की व्याख्या से पूर्व महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रारंभ में ही परमात्मा के बहुत सारे विशेषण दिए हैं परमात्मा को अनेक तरह से संबोधित किया है महर्षि ने प्रथम मंत्र की व्याख्या में जिस ढंग से संबोधित किया है वो संबोधन केवल प्रथम मंत्र से संबंधित नहीं है वो सब संबोधन समस्त मंत्रों के साथ में जुड़ सकते हैं भूमिका के रूप में चूंकि ये आर्यों की अभिविनय है आर्यों को परमात्मा के प्रति किस प्रकार से नतमस्तक रहना है विनम्र रहना है उसके लिए स्तुति और प्रार्थनाएं हैं तो उन स्तुति प्रार्थनाओं से पूर्व आर्य के मन में परमात्मा के प्रति क्या भाव रहना चाहिए परमात्मा को किस रूप में देखते हुए परमात्मा को किस रूप में पुकारते हुए आगे की स्तुतियां और प्रार्थनाएं करनी है उसके एक प्रदर्शन के रूप में हमें मार्ग दिखाने के लिए महर्षि ने बहुत सारे संबोधनों को दिया है और भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से परमात्मा की भिन्न भिन्न विशेषताएं यहां पर प्रकट की गई हैं तो हम उन संबोधनों को देखते हैं महर्षि सबसे पहले लिखते हैं हे सच्चिदानंदानंद स्वरूप परमात्मा को संबोधित किया है आगे जो शब्द लिखा है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो पहला शब्द है सत दूसरा है चित्त तीसरा है आनंद और फिर है अनंत और अंत में है स्वरूप परमात्मा सत है चित है आनंद है और अनंत है ये सब परमात्मा का स्वरूप है उसका अपना प्रकार है वो स्वयं ऐसा है परमात्मा के लिए बहुत से विशेषण गुणधर्म महर्षि ने अनेकत्र दिए हैं आर्य समाज के नियमों में भी प्रथम सच्चिदानंद स्वरूप ये शब्द दिया गया और बहुत जगह हम परमात्मा को सच्चिदानंद इस शब्द के माध्यम से पुकारते हैं देखते हैं सच्चिदानंद शब्द एक दिखाई देता हुआ भी इसमें परमात्मा के तीन स्वरूपों का मुख्य स्वरूपों का वर्णन किया गया है सम्मेलन है तो पहला है सत्य सत का मतलब है परमात्मा विद्यमान है उसकी सत्ता है परमात्मा के अन्य गुण धर्मों को हम किस रूप में स्वीकार कर पाते हैं ये आगे की बात है परमात्मा के ठीक स्वरूप को समझने के लिए पहली शर्त है कि हम उसके अस्तित्व को तो स्वीकार करें परमात्मा सत है विद्यमान है ये एक बिंदु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है अनेक बार व्यक्ति परमात्मा के विभिन्न गुणों को सुनता रहता है पढ़ता है बोलता है उन सबको बोलते समझते सुनते बीच बीच में उसके मन में प्रश्न उठ खड़ा होता है परमात्मा है भी या नहीं बहुत सारी आगे की बातें चलते चलते भी ये प्रश्न उठ खड़ा होता है परमात्मा है भी या नहीं जिन गुणधर्मों को वो परमात्मा के बारे में सुनता है स्वीकार करता है उनके प्रति उसके मन में अनेक बार संदेह पैदा हो जाते हैं परमात्मा के गुण धर्मों को यदि ठीक ढंग से नहीं समझा है मात्र भक्ति में अतिशय में उसके गुणों को बहुत बड़ा चढ़ा करके अपने तरीके से समझ लिया है और जब वो चीज दिखाई नहीं देती उसके विपरीत कुछ प्रतीत होता है तो उस गुण के प्रति संदेह नहीं होता परमात्मा के प्रति ही संदेह हो जाता है ये परमात्मा है भी या नहीं उदाहरण के लिए परमात्मा को हम न्यायकारी कहते हैं स्वीकार करते हैं लेकिन जब कोई अपने को धार्मिक समझने वाला और बहुत अंश में धर्म पे चलने वाला व्यक्ति अपने परिवार में किसी दुर्घटना को देखता है जिसके मन में ये बैठा हुआ था मैं परमात्मा की स्तुति करता हूं मैं ईश्वर को मानता हूं धार्मिक कार्य करता हूं तो मेरे घर में तो ऐसा कोई अनिष्ट हो नहीं सकता कोई दुर्घटना नहीं हो सकती पुत्र बच्चों आदि का आकस्मिक अवसान नहीं हो सकता धंधा चौपट नहीं हो सकता मेरी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती मेरे को कोई बीमारी नहीं आ सकती इत्यादि बहुत सी बातें धार्मिक व्यक्ति अपने मन में बना लेता है आस्तिक व्यक्ति बना लेता है कि मैं तो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं और परमात्मा की बहुत स्तुति करता हूं बहुत जप करता हूं तो मैं तो परमात्मा का बहुत प्रिय हो गया होऊंगा और ये सब चीजें मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए मैंने किसी को दुख नहीं दिया मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया मैं मेहनत से कमाता हूं चोरी आदि नहीं करता छल कपट नहीं करता तो मेरे साथ तो सब ठीक ही होना चाहिए वो अपने को ठीक समझ के और सब कुछ ठीक होने की आशा बना लेता है और उसको परमात्मा से जोड़ देता है क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है और मैं चूंकि ठीक हूं इसलिए मेरे साथ सदा ठीक ही होगा कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता अब ये भाव बनाया तो परमात्मा की भक्ति के प्रति था और व्यक्ति वर्षों तक इसमें चलता है और अच्छा भी अनुभव करता है लेकिन जब कभी कोई विपरीत घटना हो जाती है तो उसके मन में विचार आता है परमात्मा मेरे कर्मों को देख भी रहा है या नहीं परमात्मा न्यायकारी है भी या नहीं और जब ऐसी ऐसी घटनाएं देखता है दुष्ट व्यक्तियों के पास बहुत धन देखता है सुविधाएं देखता है और सज्जन धार्मिकों के पास में अभाव देखता है कष्ट देखता है तो उसको न्यायकारिता पे संदेह होता है और इसके साथ साथ जुड़ जाता है कि पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं देखने की दृष्टि है जब वो परमात्मा को सर्वशक्तिमान सर्व व्यवस्थापक मानता है कहता है फिर संसार में इतना अन्याय क्यों है इतने गलत कार्य क्यों कर पाते हैं व्यक्ति परमात्मा इनको रोक क्यों नहीं देता है इत्यादि ढंग से चिंतन करने लग जाए तो चूंकि ये सब रोक नहीं रहा है परमात्मा होता तो अवश्य रोक देता तो परमात्मा है ही नहीं इस बिंदु पे जाकर के आस्तिक भी खड़ा हो जाता है और बीच बीच में ये प्रश्न विभिन्न आध्यात्मिक व्यक्तियों के धार्मिक व्यक्तियों के भी होता रहता है संदेह पैदा हो जाता है तो परमात्मा को स्वीकार करने में सबसे पहला बिंदु है कि हम उसको सत सत्तात्मक माने नहीं तो ये प्रचलन में आ चुका है लोग कहते हैं कि परमात्मा वास्तव में है नहीं लेकिन परमात्मा को मनवा करके समाज में कुछ व्यवस्थाएं स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है परमात्मा का डर बता के परमात्मा की न्याय व्यवस्था बता के किन्हीं पूर्वजनों ने चतुर लोगों ने एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जिससे मनुष्य डरता रहे और ठीक ढंग से चलता रहे वास्तव में परमात्मा नहीं है और वो उसको लाभदायक भी मान लेते हैं लेकिन परमात्मा नहीं है ये भी कह देते अब यदि परमात्मा नहीं है तो फिर व्यवस्था और इस कल्पना की तो कोई आवश्यकता नहीं है तो दूसरे ढंग से की जा सकती है तो परमात्मा विद्यमान है सत है इसका पूरा विश्वास होना आस्तिक व्यक्ति के लिए धार्मिक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है जिसके अस्तित्व में ही संदेह हो जाएगा उसके बाकी गुण धर्मों में तो संदेह होना ही है उसकी समस्त आज्ञाओं के प्रति संदेह होना ही है उसके समस्त विधि निर्देशों के प्रति संदेह होना ही है इसलिए परमात्मा को मानना या न मानना उसकी सत्ता को स्वीकार करना या न करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और मात्र इतने पर ही आस्तिक और नास्तिक का कथन भी टिका हुआ है ये इतनी महत्वपूर्ण बात है इसलिए परमात्मा का पहला स्वरूप किस वो सत है विद्यमान है अभाव नहीं है वो एक भाव है सत्तात्मक है उसकी विद्यमानता है अस्तित्व है ये स्वीकार करना हमें आवश्यक है तो परमात्मा सत है विद्यमान है तो अगला प्रश्न खड़ा होगा कि परमात्मा जड़ है या चेतन है क्योंकि संसार में दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं पृथ्वी आदि पत्थर आदि जल वायु आदि जड़ पदार्थ भी दिखाई देते हैं और मनुष्य पशु पक्षी आदि चेतन भी दिखाई देते हैं तो परमात्मा यदि है तो क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है समस्त वस्तुओं का एक चेतन और जड़ तो उसमें से हमें परमात्मा को छांटना है कि परमात्मा चित्त है चेतन है विद्यमान है और चेतन विद्यमान है चेतन पदार्थ है चित्त का क्या मतलब है कि जो ज्ञान वाला है संज्ञान वाला है जो सम्यक रूप से जानता है जड़ और चेतन में यदि मुख्य अंतर करें तो ये ज्ञान का ही है जड़ वस्तु जानती नहीं है उसको स्वयं बोध नहीं होता है दूसरे उसको जानते हैं लेकिन चेतन जानने वाला होता है बोध करने वाला होता है तो परमात्मा विद्यमान है और चित चेतन है वो जानने वाला है जानता है वो हम पत्थर आदि को विद्यमान मान लें लेकिन उससे हम उतने ही प्रभावित होंगे कि ये है बस इससे मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है मेरे को आवश्यकता होती है तब मैं इसका उपयोग कर लूंगा जल का वस्तुओं का लकड़ी का लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं मैं अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग करूंगा ये जड़ वस्तुओं के प्रति हमारी भावना अलग बनती है हम इसके उपयोग करने वाले हैं ये हमारे लिए साधन है लेकिन जो चेतन होता है वो मात्र साधन नहीं होता उसको हम जैसा चाहें वैसा नहीं चला सकते उसकी अपनी इच्छा होती है उसका अपना बोध होता है उसके अपने निर्णय होते हैं तो जब हम परमात्मा को स्वीकार करेंगे सत्य और साथ में चित्त जानने वाला स्वीकार करेंगे तो एक अलग दृष्टि बनेगी संसार में बहुत से जड़ पदार्थों को लोग भगवान मान लेते हैं ईश्वर मान के पूछते हैं परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हुए भी जड़ पदार्थ को भगवान मान लेते हैं तो सच्चे आस्तिक के लिए शुद्ध ज्ञान परमात्मा का रखने के लिए परमात्मा को चेतन मानना आवश्यक है तो सत और चित्त परमात्मा कोई वस्तु विद्यमान है और चेतन भी है हमारे साथ में उसका क्या संबंध है हमारे लिए वो कैसे उपयोगी है तो उसके लिए यहां पर शब्द कहा पानी दे दीजिए कहते तो उनको हाँ, सत है चित है इसके साथ साथ उसकी तीसरी विशेषता जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है उसका आनंद गुण चूंकि हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख के लिए आनंद के लिए दुख के लिए हम किसी वस्तु को पाना नहीं चाहते दुख के लिए हम किसी वस्तु से संबंध नहीं बनाना चाहते दुख के लिए किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते ये हमारा सबका चेतनों का आत्माओं का स्वभाव है हम सुख के लिए उपयोगिता के लिए सुविधा के लिए ही किसी वस्तु का संपर्क करते हैं उसको चाहते हैं तो परमात्मा आनंद गुण से युक्त है ये भाव आस्तिक धार्मिक व्यक्ति के मन में बैठना ही चाहिए यदि परमात्मा का आनंद स्वरूप हमें स्वीकार्य नहीं होता है तो परमात्मा को मानते हुए भी हम संसार के सुखों में ही लगे रहेंगे संसार में भी सुख है संसार का सुख सीमित है संसार के सुख के साथ में अनेक दुख भी आ सकते हैं यदि परमात्मा को मानते हुए भी परमात्मा का आनंद गुण हमें स्वीकार्य नहीं है परमात्मा को आनंद रूप में हम नहीं देख पाते तो हम संसार के सुखों की तरफ ही लगे रहेंगे संसार के सुखों को ही अंतिम और सबसे ऊपरी मानते रहेंगे संसार के सुखों को भी प्राप्त करना है परमात्मा ने उन्हें बना के दिया है उनका साधनों के रूप में हमें उपयोग करना है हमारे उपयोग के लिए दिए गए हैं लेकिन उनकी सुविधा उनके सुख को पा करके वहीं हम अटक सकते हैं यदि परमात्मा का आनंद गुण हमें ज्ञात नहीं है एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति परमात्मा को मानता है और परमात्मा से क्या कामनाएं करता है परमात्मा से यही कामना करता है कि मुझे धन संपत्ति दे मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे अच्छी बुद्धि दे अच्छी संतान दे यश प्रतिष्ठा दे सामान्य धार्मिक आस्तिक व्यक्ति परमात्मा से इन सब चीजों को मांगता है लेकिन परमात्मा के आनंद को प्राय नहीं मांगता ऐसी प्रार्थना करने वाले ऐसी स्तुति करने वाले कितने व्यक्ति हैं जन सामान्य में हम देखें तो परमात्मा के आनंद की कामना उनमें नहीं मिलेगी परमात्मा को कितना भी वो समझता रहे परमात्मा के प्रति कितना भी श्रद्धान्वित होता रहे लेकिन इच्छा सांसारिक पदार्थों सांसारिक सुखों सांसारिक सुविधाओं की ही उसको रहती है और ऐसा ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं उसके सारे प्रयत्न सांसारिक सुख साधनों को पाने में ही लगे हैं और उन्हीं में वो अपनी कृतिकृत्यता समझता है वो देखता है मैंने इतने सारे साधन जुटा लिए हैं खाने पीने की सारी चीजें हैं बच्चे हैं उनकी नौकरियां लग गई हैं सबके व्यापार हैं गाड़ी है चिकित्सा सुविधाएं हैं और क्या चाहिए मुझे और वहीं अटक करके वो रह जाता है परमात्मा को जानने मानने का जो लाभ आत्मा को मिलना चाहिए परमात्मा को जानने मानने का जो वास्तविक लाभ आत्मा के लिए है वो इस सांसारिक सुख नहीं है ये तो एक साधन मात्र है उसका एक अंश मात्र है परमात्मा की सहायता से ये सुख मिलते हैं लेकिन जितना सुख आनंद परमात्मा से मिल सकता है उसका तो ये अंश मात्र है तो परमात्मा को आनंद स्वरूप मानना आनंद गुण वाला मानना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस साधक ने जिस आस्तिक व्यक्ति ने यह समझ लिया कि परमात्मा आनंद गुण से युक्त है वो सांसारिक सुखों से परमात्मा के आनंद की तुलना भी करेगा उसकी विशेषताओं को जानेगा और जब विशेषताओं को जानेगा तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होगा वो संसार के सुखों और सुख साधनों का उस तरह उपयोग करेगा कि परमात्मा के आनंद की प्राप्ति में बाधा ना हो जिस व्यक्ति को परमात्मा का आनंद स्पष्ट नहीं है वो संसार के भोगों को ऐसे भोगेगा संसार के साधनों का ऐसा उपयोग करेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये ही सुख मेरे दुख के कारण बन गए हैं और परमात्मा से दूर बने रहने के कारण बन गए कितने व्यक्ति हैं जो वैसे भगवान को मानते हैं लेकिन चोरी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उसमें सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं किसी गलत पद प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं गलत तरीके अपनाते हैं और उसमें सफलता की कामना करते हैं परमात्मा से क्योंकि वो संसार के सुखों को ही अंतिम सुख मानते हैं परमात्मा का आनंद उनकी दृष्टि में नहीं है इसलिए ये तीसरा गुण भी बहुत महत्वपूर्ण है परमात्मा को हम सत माने विद्यमान माने उसको चेतन माने और उसको आनंद गुण से युक्त माने और महर्षि ने एक शब्द और यहां दिया सामान्यतः हम सच्चिदानंद बोलते हैं महर्षि ने एक और गुण दे दिया अनंत परमात्मा का ये आनंद है ये अनंत है परमात्मा की सत्ता है ये अनंत है ये कभी प्रारंभ नहीं हुई थी और कभी समाप्त नहीं होने वाली है परमात्मा की सत्ता केवल यही नहीं है उसका कोई और छोर नहीं है यहां भी है तो दूसरी जगह भी है वो अनंत है परमात्मा का चैतन्य परमात्मा का बोध परमात्मा का ज्ञान वो भी अनंत है किसी सांसारिक वस्तु के जितना सीमित उसका अस्तित्व नहीं है सांसारिक वस्तु जितना सांसारिक चेतन व्यक्ति जितना उसका ज्ञान नहीं है उससे बहुत अधिक है अनंत है और उसका आनंद भी सांसारिक पदार्थों जैसा सुख नहीं है कि जो एक सीमित मात्रा में हमें प्राप्त होता है और फिर बाद में उसकी तरफ हम रुख भी नहीं करते परमात्मा का आनंद कितना भी ले लो तो भी वो समाप्त नहीं होने वाला वो सदा विद्यमान है अनंत है और ये अनंतता परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा की सत्ता स्वरूपतः है किसी अन्य ने उसको सत्ता में नहीं लाया है कोई अन्य ने उसको सत्तावान नहीं बनाया है वो स्वरूपतः स्वयं अपने आप में सत्ता वाला है परमात्मा को किसी ने चेतन नहीं बनाया है वो स्वरूपतः स्वयं चेतन है और परमात्मा को किसी अन्य ने आनंद से युक्त नहीं किया है परमात्मा का स्वयं का गुण है ये इसका अपना स्वरूप है और परमात्मा को अनंतता की प्राप्ति किसी प्रयत्न से नहीं हुई है किसी की कृपा से नहीं हुई है वो अपने आप में पहले से सदा अनंत है तो परमात्मा को सत चित आनंद और अनंत स्वरूप महर्षि ने यहां पर कहा है ये एक ही शब्द जो अनेक शब्दों को जोड़े हुए है अपने आप में एक परिपूर्ण संबोधन है परमात्मा के जितने आगे गुण धर्म बताए जाएंगे उनको किसी किसी तरह हम यहां समावेशित कर सकते हैं ये सच्चिदानंद शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आगे जो और संबोधन दिए गए हैं उसमें परमात्मा की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है उनके गुणों को बताया गया है लेकिन यदि हम समावेशित करने लगे तो परमात्मा के सत चित्त और आनंद और अनंत इसमें सारी चीजें आ जाएंगी तो आर्यों को परमात्मा के प्रति कैसी विनम्रता और विनय रखना है उसके लिए महर्षि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संबोधन है हे सच्चिदानंदन अनंत स्वरूप परमात्मा तो उस भाव को अपने मन में रखते हुए परमात्मा का स्मरण करेंगे ओम का उच्चारण आगे अगले गुणों को हम एक एक करके लेंगे प्रणव ध्वनि ओ